लेखक आचार्य मनोज पांडे Pandey. Vedesh the revealed wisdom. The Srutas are called the Vedas, or the Amneya. The Hindus have received their religion through revelation, the Vedas. These are direct intuitional revelations and are held to be apparitia or entirely superhuman, without any author in particular. The Ved is the glorious pride of the Hindus, nay, of the whole world. The term Ved comes from the root Vid to know, the word Ved means knowledge. When it is applied to scripture, it signifies a book of knowledge. The Vedas are the foundational scriptures of the Hindus. The Ved is the source of the other five sets of scriptures, why, even of the secular and the materialistic. The Ved is the storehouse of Indian wisdom and is a memorable glory which man can never forget till eternity. The Vedas are the eternal truths revealed by God to the great ancient rishis of India. The word Rishi means a seer, from dress, to see. He is the mantra drashta, seer of mantra or thought. The thought was not his own. The rishis saw the truths or heard them. They are four, the Vadnas are what are heard, Shruti. The rishi did not write. He did not create it out of his mind. He was the seer of thought which existed already. He was only the spiritual discoverer of the thought. He is not the inventor of the Ved. The unique glory of the Vedas. The Vedas represent the spiritual experiences of the rishis of yore. The rishi is only a medium or an agent to transmit to people the intuitional experiences which he received. The truths of the Vedas are revelations. All the other religions of the world claim their authority as being delivered by special messengers of God to certain persons, but the Vedas do not owe their authority to anyone. They are themselves the authority as they are eternal as they are the knowledge of the Lord. Lord Brahma, the creator, imparted the divine knowledge to the rishis or seers. The rishis disseminated the knowledge. The Vedic rishis were great realized persons who had direct intuitive perception of Brahman or the truth. They were inspired writers. They built a simple, grand and perfect system of religion and philosophy from which the founders and teachers of all other religions have drawn their inspiration. The Vedas are the oldest books in the library of man. The truths contained in all religions are derived from the Vedas and are ultimately traceable to the Vedas. The Vedas are the fountainhead of religion. The Vedas are the ultimate source to which all religious knowledge can be traced. Religion is of divine origin. It was revealed by God to man in the earliest times. It is embodied in the Vedas. The Vedas are eternal. They are without beginning and end. An ignorant man may say how a book can be without beginning or end. By the Vedas, no books are meant. Vedas came out of the breath of the Lord. They are not the composition of any human mind. They were never written, never created. They are eternal and impersonal. The date of the Vedas has never been fixed. It can never be fixed. Vedas are eternal spiritual truths. Vedas are an embodiment of divine knowledge. The books may be destroyed, but the knowledge cannot be destroyed. Knowledge is eternal. In that sense, the Vedas are eternal. Divisions of Vedas The Veda is divided into four great books, the Rig Veda, the Yajur Veda, the Samaveda and the Atharva Veda. The Yajur Veda is again divided into two parts, the Shukla and the Krishna. The Krishna or the Taittiriya is the older book and the Shukla or the Vajasaniya is a later revelation to sage Yajnavalkya from the resplendent sun god. The Rigveda is divided into 20 own sections, the Yajurveda into own 109 sections, the Samaveda into own 1000 sections and the Atharva Veda into 50 sections. In all, the whole Veda is thus divided into own 1000 own 180 recensions. Each Ved consists of four parts, the mantra samhitas or hymns, the brahmanas or explanations of mantras or rituals, the Aranyakas, and the Upanishads. The division of the Vadnas into four parts is to suit the four stages in a man's life. The mantra samhitas are hymns in praise of the Vedic god for attaining material prosperity here and happiness hereafter. They are metrical poems calm praising prayers, hymns and incantations addressed to various deities, both subjective and objective. The mantra portion of the Vadnas is useful for the brahmacharins. The Rig Veda Samhita is the grandest book of the Hindus, the oldest and the best. It is the great Indian Bible, which no Hindu would forget to adore from the core of his heart. Its style, the language and the tone are most beautiful and mysterious. Its immortal mantras embody the greatest truths of existence, and it is perhaps the greatest treasure in all the scriptural literature of the world. Its priest is called the hathri. The Yajurveda Samhita is mostly in prose and is meant to be used by the Advaryu, the Yajurvedic priest, for superfluous explanations of the rites and sacrifices, supplementing the Rig Vedic mantras. The Samaved Samhita is mostly borrowed from the Rig Vedic Samhita, and is meant to be sung by the Ajatri, the Samavedic priest, in sacrifices. The Atharva Ved Samhita is meant to be used by the Brahma, the Atharva Vedic priest, to correct the mispronunciations and wrong performances that may accidentally be committed by the other three priests of the sacrifice. The Brahman portions guide people to perform sacrificial rites. They are prose explanations of the method of using the mantras in the yajna or the sacrifice. The Brahman portion is suitable for the householders. There are two Brahmanas to the Rig Veda Itriya and the Sankhya. The Rig Veda, says Max Muller, is the most ancient book of the world. The sacred hymns of the Brahmanas stand unparalleled in the literature of the whole world, and their preservation might well be called miraculous. The Satapatha Brahman belongs to the Shukla Yajurveda, the Krishna Yajurved has the Taittiriya and the Maitrayana Brahmanas. The Tandaya or Panchavimsa, the Shaivimsa, the Chandajaya, the Adbhuta, the Ashiya and the Upanishad Brahmanas belong to the Ved. The Brahman of the Atharva Ved is called the Each of the Brahmanas has got an Aranyaka. The Aranyakas are the forest books, the mystical sylvan texts which give philosophical interpretations of the rituals, the Āraṇyakas are intended for the Vānaprasthas or hermits who prepare themselves for taking sannyasa. The Upanishads are the most important portion of the Vedas. The Upanishads contain the essence or the knowledge portion of the Vedas. The philosophy of the Upanishads is sublime, profound, lofty and soul-stirring. The Upanishads speak of the identity of the individual soul and the supreme soul. They reveal the most subtle and deep spiritual truths. The Upanishads are useful for the sannyasins. The essence of Vedas. Live in the spirit of the teachings of the Vedas. Learn to discriminate between the permanent and the impermanent. Behold the self in all beings, in all objects. Names and forms are illusory. Therefore sublet them. Feel that there is nothing but the self. Share what you have, physical, mental, moral or spiritual, with all. Serve the self in all. Feel when you serve others, that you are serving your own self. Love thy neighbor as thyself. Melt all illusory differences. Remove all barriers that separate man from man. Mix with all. Embrace all. Destroy the sex idea and body idea by constantly thinking of the self or the sexless, bodiless Atman. Fix the mind on the self when you work. This is the essence of the teachings of the Vedas and sages of yore. This is real. eternal life in Atman. Put these things in practice in the daily battle of life. You will shine as a dynamic yogi or a divine mukta. There is no doubt of this. चार दैश यजमान का संघ का समाधान यजुर्वेद प्रथम अध्याय चतुर्थ मंत्र भाषा जो पूर्वोक्त मंत्र में तीन प्रश्न कहे हैं उनके उत्तर अगले मंत्र क्रम से प्रकाशित किए हैं वो तीन स विश्व वायु स विश्वकर्मा स धाया इंद्र से ताम भाग सोमेना तनचमी विष्णु हव्यरक्ष चार पदार्थ है विष्णु व्यापक ईश्वर आप जिस वाणी का धारण करते हैं सा वे विश्वायु पूर्ण को देने वाली सा वे विश्वकर्मा जिससे कि संपूर्ण क्रियाकांड सिद्ध होता है और सा वे विश्वधाया सब जगत की विद्या की विद्या और गुणों से धारण करने वाली पूर्व मंत्र में जो प्रश्न है उसके उत्तर में यह तीन प्रकार की वाणी ग्रहण करने योग्य है इसी से मैं इंद्र से परमेश्वर के भागम सेवन करने योग्य यज्ञ को सुमेन विद्या से सिद्धि किए रुपए अथवा आनंद से तनचमी अपने हृदय दृढ़ कर रहा हूँ तथा हे परमेश्वर हव्यम पूर्वोक्त यज्ञ संबंधी देने लेने योग्य द्रव्य व विज्ञान की रक्ष निरंतर रक्षा कीजिए भावार्थ तीन प्रकार की वाणी होती है अर्थात प्रथम यह जो कि ब्रह्मचर्य में पूर्ण विद्या पढ़ने व पूर्ण आयु होने के लिए सेवन की जाती है दूसरी वह है जो गृहाश्रम में अनेक क्रिया व उद्योगों से सुखों की देने वाली विस्तार से प्रकट की पदार्थ के विज्ञान को देने वाली वानप्रस्थ और संयाय आश्रम में विद्वानों से उपदेश की जाती है इन तीन प्रकार की वाणी के बिना किसी को भी सभी प्रकार के सुख नहीं प्राप्त सकते हैं क्योंकि इसी से पूर्वोक्त यज्ञ तथा ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करना योग्य है ईश्वर की यह आज्ञा है कि जो नियम से किया हुआ यज्ञ संसार में रक्षा का कारण और प्रेम सत्य भाव से प्रार्थित ईश्वर विद्वानों की सर्वदा रक्षा करता है वही सबका अध्यक्ष है परंतु जो क्रिया में कुशल धार्मिक परोपकारी मनुष्य है वे ही ईश्वर और धर्म जानकर मोक्ष और समय क्रिया साधनों से इस लोक और परलोक के सुख को प्राप्त करते हैं वह वाणी जो पूर्ण आयु को देने वाली है वह वाणी जो पूर्ण क्रिया कांडों को सिद्ध करने वाली है वे वाणी जो सब जगत की विद्या और गुणों को धारण करने वाली है जो विश्व की वायु शांत के समान विश्व वायु है वह जो संपूर्ण जगत के कार्य को करने वाला विश्वकर्मा है वह जो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को धारण कर रहा विश्व बधाया है परमेश्वर के समान जो करने योग्य कर्म है ब्रह्मचर्य पूर्वक यज्ञ जिसके सेवन से हर प्रकार के ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान की विद्या से सिद्ध किए रूपये अथवा आनंद से जो अपने हृदय को दृढ़ करता है तथा परमेश्वर के द्वारा विदित पूर्वोक्त जो पहले मंत्रों के माध्यम से बताया गया है उसके अनुरूप कार्य को करके यज्ञ संबंधी देने लेने योग्य द्रव्य अथवा विज्ञान की निरंतर रक्षा कीजिए इस मंत्र में तीन प्रकार की वाणी की बात हो रही है सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य की बात की गई है सुख और श्रेय मन वे जीवन की दो महान उपलब्धियां मानी गई है इनको पालेना ही जीवन की सफलता है सुख की परिधि का परिसर तक है अर्थात हम संसार के व्यवहार क्षेत्र में जो जीवन जीते हैं उसका निर्विघ्न स्निग्ध और सरलतापूर्वक चलते रहना ही सांसारिक सुख है श्रेय आध्यात्मिक क्षेत्र की उपलब्धि है ईश्वरीय बोध आत्मा का ज्ञान और भवबंधन से मुक्ति श्रेय कहा गया है पार्थिव अथवा अपार्थिव किसी भी पुरुषार्थ के लिए शक्ति की अनिवार्य आवश्यकता है शक्तिहीनता क्या साधारण और क्या असाधारण दोनों प्रकार की प्रकृतियों के लिए बाधारूप है शरीर अशक्त हो मन निराश और कुंठित हो बुद्धि की निर्णायक क्षमता शिथिल हो तो मनुष्य इच्छा रहते हुए भी किसी प्रकार का पुरुषार्थ नहीं कर सकता संसार के सारे सुखों का मूल आधार साधनों को माना गया है साधन यो ही अकस्मात प्राप्त नहीं हो जाते उनके लिए उपाय तथा परिश्रम करना होता है रोटी कपड़ा आवास के साथ और भी अनेक प्रकार के साधन जीवन को सरलतापूर्वक चलाने के लिए आवश्यक होते हैं इनके लिए कार रोजगार मेहनत मजदूरी नौकरी चाकरी कुछ ना कुछ काम करना होता है वह सब काम करने के लिए शक्ति की आवश्यकता है अशक्तों की दशा में कोई काम नहीं किया जा सकता केवल शक्ति ही नहीं आरोग्य तथा स्वास्थ्य भी सुख शांतिमय जीवन यापन की एक विशेष शर्त है साधन हो कार रोजगार हो धन तथा आय की भी कमी न हो तब भी जब तक तन मन स्वस्थ और निरोग नहीं है जीवन सुख और सरलता पूर्वक नहीं चलाया जा सकता इस प्रकार शक्ति और स्वास्थ्य जीवन के सुख के आवश्यक हेतु है शक्ति जन्मजात प्राप्त होने वाली कोई वस्तु नहीं है जिस प्रकार धन संपत्ति जमीन जायदाद उत्तराधिकार में मिल जाते हैं उस प्रकार शक्ति के विषय में कोई भी उत्तराधिकार नहीं है यह मनुष्यों की अपनी व्यक्तिगत वस्तु है जिसे पाया नहीं उपजाया जाता है सांसारिक सुख और पारलौकिक श्रेय के लिए मनुष्य को शक्ति का उपार्जन कर लेना आवश्यक है लौकिक विद्वानों से लेकर सिद्ध महात्माओं और मनीषियों सबने एक स्वर से संयम को शक्ति का स्रोत बतलाया है बहुत लोगों का विचार रहता है कि अधिक खाने पीने से शक्ति प्राप्त होती है पर उनका यह विचार समीचीन नहीं अधिक अथवा बहुत बार खाने से शरीर को अनावश्यक श्रम करना पड़ता है जिससे शक्ति बढ़ने के बजाय क्षीण होती है स्वास्थ्य बिगड़ता है और आरोग्य नष्ट होता है भोजन में निश्चय ही शक्ति का तत्व रहते हैं किंतु वे प्राप्त भी होते हैं जब भोजन का उपभोग संयम पूर्वक किया जावे समय पर नियंत्रित मात्रा में उपयुक्त भोजन ही सुविधा पूर्वक पचता और शक्तिशाली रसों को देता है शक्ति संचय के लिए स्वयं पर सीमित और उपयुक्त भोजन किया जाए स्वास्थ्य और आरोग्य के विषय में सावधान रहा जाए पर ब्रह्मचर्य का पालन न किया जाए तब भी सारे प्रयत्न बेकार चले जाएंगे और शक्ति के नाम पर शून्य ही हाथ में रहेगा भोजन के तत्व वीर्य बनकर ही शरीर में संचय होते हैं और उस संचित और परिपक्व वीर का ही स्फुरन शक्ति की अनुभूति है वीरवान शरीरों में न तो अशक्त आती है और न उसका आरोग्य ही जाता है इसीलिए वीरक को शरीर की शक्ति ही नहीं प्राण भी कहा गया है इसी महत्व के कारण भारतीय मनीषियों और आचार्यों ने वीर रक्षा अर्थात ब्रह्मचर्य संयम और को सबसे बड़ा मानना है और निर्देश किया है कि लौकिक जीवन के सुख और पारलौकिक श्रेय के लिए मनुष्य को अधिकाधिक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए परशुराम हनुमान और भीष्म जैसे महान पुरुषों ने आजीवन ब्रह्मचारी रहकर ब्रह्मचर्य व्रत की महत्ता प्रमाणित की है इसी व्रत के बल पर वे न केवल अतुलित बलधाम बने बल्कि जरा और मृत्यु आई ही नहीं पर भीष्म ने तो उसे आने पर डांट कर ही भगा दिया और रोम रोम में बिन शिरों की सेज पर तब तक सुख पूर्वक लेटे रहे जब तक कि सूर्य नारायण उत्तरायण नहीं हो गए सूर्य के उत्तरायण हो जाने पर ही उन्होंने इच्छा मृत्यु का वरण स्वयं किया शरशया पर लेटे हुए थे केवल जीवित ही नहीं बने रहे अपितु पूर्ण स्वस्थ और चैतन्य भी बने रहे महाभारत युद्ध के पश्चात उन्होंने पांडवों को धर्म तथा ज्ञान का आदर्श उपदेश भी दिया यह सारा चमत्कार उस ब्रह्मचर्य व्रत का ही था जिसका कि उन्होंने आजीवन पालन किया था हनुमान ने उसके बल पर समुद्र पार कर दिखलाया और एक अकेले परशुराम ने 21 बार पृथ्वी से अतताई और अनाचारी राजाओं को नष्ट कर डाला था ब्रह्मचर्य की महिमा अपार है कहा जा सकता है कि यह सब लोग मानवों की महान कोटि के व्यक्ति थे और आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर अविवाहित रहे थे आजीवन ब्रह्मचर्य वीर स्वयं से सरल है अविवाहित अथवा अनुभवी व्यक्ति को काम ज्वर पीड़ित नहीं कर पाता किंतु जनवरी सामान्य के लिए उसका संयम कठिन होता है विवाहित व्यक्तियों का उद्दीप्त कामदेव उन्हें विवश कर अपने वश में कर ही लेता है इस शंका के समाधान में इस प्रकार विचार किया जा सकता है भीष्म भार्गवत्व हनुमान को उच्च कोटि का महापुरुष माने जाने का कारण उनकी स्थिति नहीं है बल्कि उनके वे कार्य हैं जो उन्होंने अपने जीवन में कर दिखाए और वे उन शक्ति संभव कार्यों को कर ही आत्म संयम के बल पर सकें कोई भी व्यक्ति सामान्य अथवा असामान्य उन जैसा संयम पूर्वक जीवन जिए उन जैसे आचार विचार रखें और उन जैसी अदृश्यता से अलंकृत कार्य विधि अपनाए तो निश्चय यही उच्च श्रेणी में पहुंच सकता है ब्रह्मचर्य पालन के विषय में आजीवन अविवाहित और अनुभवहीन व्यक्तियों को छोड़ भी दीजिए तो भी भारतीय इतिहास में ऐसे दृढ़ और संयमशील व्यक्तियों के उदाहरणों की कमी नहीं है जिन्होंने विवाहित और अनुभव प्राप्त होने पर भी अनुकरणीय काम संयम करके दिखला दिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं रामायण के ही प्रमुख पात्र राम लक्ष्मण भारत तथा सीता उर्मिला और मांडवी को ही ले लीजिए सभी विवाहित तथा घर गृहस्थी थे जिस समय राम के उपनयन की घटना घटी उस समय इन सब के विवाह हुए ज्यादा दिन न हुए थे सभी यौवन की उत्थान तथा हुए उदाम आयु में थे हास विलास तथा सुख सुखपूर्वक जीवन बीत रहा था तभी एक साथ चौदह वर्ष के लिए राम वनवास की बात हो गई राम वनवास के लिए चले तो बहुत कुछ समझाने और निषेध करने पर भी सीता तथा लक्ष्मण उनके साथ प्रेमयुक्त ही हो लिए चलते समय लक्ष्मण ने अपनी नविवाहित पत्नी उर्मिला से विदा से लेना आवश्यक समझा विलगे और अपना विचार प्रकट किया उर्मिला के हृदय पर एक बार एक आघात हुआ उसकी आंखें भर आई किंतु तत्क्षण ही उसने अपने आप के संयम कर कहा आप प्रभु के साथ वनवास जा रहे हैं तो उन्हीं की तरह मुझे भी अपने साथ क्यों न लेते चले किंतु लक्ष्मण ने अपने कर्तव्य की महता और उसके संग रहने से होने वाली उचित असुविधाओं को बताकर समाधान कर दिया उर्मिला घर रह गई और लक्ष्मण चौदह वर्ष के लिए राम के साथ बन चले गए वन में जाकर कुमार लक्ष्मण ने विवाहित तथा आत्मानुभवी होकर भी चौदह वर्ष तक ब्रह्मचर्य का अखंड पालन किया इस व्रत पालन में न तो उन्हें कोई असुविधा हुई और न कोई कठिनाई वे सरलतापूर्वक कृतियों का जीवन व्यतीत करते रहे इधर बहु उर्मिला ने भी पतिवेयों के अतिरिक्त किसी प्रकार का शिकार अथवा काम पीड़ा का अनुभव नहीं किया वह निर्भयता पूर्वक अपना व्रत पालन करती रही विवाहित तथा अनुभव प्राप्त व्यक्ति के लिए चौदह वर्ष का ब्रह्मचर्य कोई अर्थ रखता है किंतु उन्होंने उसका पालन कर यह सिद्ध कर दिया कि यदि मनुष्य में दृढ़ता है अपने व्रत के प्रति आस्था और संयम के प्रति आदर है तो वे विवाहित गृहस्थ अनुभवी और तरुण होने पर भी ब्रह्मचर्य का पालन सुविधा पूर्वक कर सकता है यहाँ पर कहा जा सकता है कि लक्ष्मण पत्नी से दूर थे उनका काम रक्षित रह सकना संभव था कभी कभी वैश्य भी स्वयं का पालन करा देता है इसके लिए कहा जा सकता है कि लक्ष्मण तो अप्रति थे किंतु राम तो नहीं थे उनके साथ तो उनकी पत्नी सीता जी थी किंतु राम ने भी पूर्ण काम संयम का प्रमाण दिया और ब्रह्मचर्य व्रत का अखंड रूप से पालन किया फिर कहा जा सकता है कि सीता से आगे चलकर उनका विछोह हो गया था ठीक है पर भरत के साथ तो ऐसी कोई बात नहीं थी वे न तो वनवास में ही गए और न पत्नी से दूर ही रहे वे अयोध्या में ही रहे और मांडवी उनकी सेवा में हर समय उपस्थित रहती थी तथापि भरत न स्वयं अंधी पत्नी सहित चौदह वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया और कभी किसी विकार की दुर्बलता नहीं आने दी यह संयम सर्वथा संभव है और सबको करना ही चाहिए इससे शारीरिक मानसिक तथा बौद्धिक ही नहीं आत्मिक शक्ति भी बढ़ती है मनुष्य में तेज तथा प्रभाव का प्रादुर्भाव होता है वाणी में तेज तथा नेत्रों में ज्योति आती है यह सारे गुण सारे गुण और सारी विशेषताएं प्रेम तथा श्रेय दोनों की उपलब्धि में सहायक होते हैं इन सहायकों के अभाव में आध्यात्मिक उन्नति तो दूर सामान्य सांसारिक जीवन भी सुख और सरलता पूर्वक नहीं जिया जा सकता जो व्यक्ति संसार के महान व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने धर्म समाज तथा देश के लिए उल्लेखनीय कार्य कर प्रेम प्राप्त किया है और जिन्होंने तब साधना तथा चिंतन मनन कर श्रेय पाया है निर्विवाद रूप से उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत द्वारा सबसे पहले शक्ति की ही साधना की है वासना को जीत और इंद्रियों पर अधिकार कर सकने पर ही वे जीवन में श्रेयस्कर कार्य कर सकने में सफल हो सके हैं वीर रक्षा से शरीर स्वस्थ तथा स्फूर्तिवान बना रहता है रोगों का आक्रमण न होने पाता मन तथा बुद्धि इतने पुष्ट एवं परिपक्व हो जाते हैं कि बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी विचलित नहीं होते प्रमाद आलस्य अथवा अवज्ञा का भाव नहीं आने पाता परिश्रम तथा उपार्जन की स्फूर्ति बनी रहती है जिससे उसके चरण दिन दिन उन्नति के सोपानों पर ही चलते जाते हैं हम सबने जिस मनुष्य जीवन को पाया है वह यो ही कष्ट क्लेशों अभावों तथा आवश्यकताओं में नष्ट कर देने योग्य नहीं है और न इसी योग्य है कि उसे कामनाओं वासनाओं और न इसी योग्य है कि उसे कामनाओं वासनाओं और संसार की अन्य विभिषिकाओं में गवा दिया जाए वह है संसार में सत्कर्मों द्वारा पुण्य तथा परमार्थ उपार्जित कर अध्यात्म मार्ग से पारलौकिक श्रेय प्राप्त करने के लिए और यह उपलब्धि शारीरिक मानसिक तथा आत्मिक शक्ति द्वारा ही संभव है जिसका उपार्जन इंद्रिय निग्रह द्वारा ब्रह्मचर्य व्रत द्वारा सहज ही में किया जा सकता है ब्रह्मचर्य शब्द में दो शब्द हैं ब्राह्मण और चर्य ब्राह्मण का मतलब है दिव्य ईश्वरीय या परम और चरक का मतलब है रास्ता अगर आप परम आनंद के खोजी हैं या कहें कि आप चैतन्य की राह पर हैं तो आप ब्रह्मचारी हैं चैतन्य की राह पर होने का मतलब है कि आपके पास अपनी बनाई हुई व्यक्तिगत कामों की सूची नहीं है आप बस वे करते हैं जो जरूरी है आप व्यक्तिगत रूप से यह तय नहीं करते कि जीवन में आपको किस दिशा में जाना है क्या करना है या आपकी पसंद नापसंद क्या है ये सब चीजें आपसे ले ली जाती हैं अगर यह सब आप अनिच्छा से करते हैं तो यह आपके लिए एक बड़ी यातना हो सकती है अगर आप अपनी इच्छा से ऐसा करते हैं तो यह आपकी जिंदगी को बहुत ही बढ़िया और खूबसूरत बना देता है क्योंकि फिर कुछ भी आपको परेशान नहीं करता किसी चीज की आपको चिंता नहीं करनी होती आप बस जरूरत के हिसाब से काम करते हैं जीवन बहुत ही सरल हो जाता है अपने आप को इस तरह समर्पित कर देने के बाद आपको आध्यात्मिक मार्ग के बारे में सोचने या अपनी आध्यात्मिकता की चिंता करने की जरूरत नहीं रह जाती उसका ख्याल रखा जाता है आपको इसके लिए कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती जो व्यक्ति वास्तव में दिव्यता को पाने की चाह में आगे बढ़ रहा है उसके लिए दुनिया के छोटे मोटे सुख पूरी तरह निरर्थक होंगे अपने भीतर अस्तित्व के सुखों का आनंद उठाने के बाद बाहरी सुख पूरी तरह अर्थहीन हो जाते हैं कुछ लोगों को लगता है कि ब्रह्मचारी बहुत बड़ा त्याग कर रहे हैं और उन्हें जीवन से वांछित रखा जा रहा है लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर कोई सिर्फ अपने कपड़ों से ब्रह्मचारी है तो निश्चित रूप से उसका जीवन यातनापूर्ण है लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में दिव्यता को पाने की चाह में आगे बढ़ रहा है उसके लिए दुनिया के छोटे मोटे सुख पूरी तरह निरर्थक होंगे अपने भीतर अस्तित्व के सुखों का आनंद उठाने के बाद बाहरी सुख पूरी तरह अर्थहीन हो जाते हैं क्या इसका मतलब यह है कि हर किसी को ब्रह्मचारी बन जाना चाहिए हाँ बनना चाहिए जरूरी नहीं कि जीवन शैली ब्रह्मचारियों की तरह हो लेकिन वे भीतर से ब्रह्मचारी हो हर किसी को चैतन्य की राह पर चलना चाहिए ब्रह्मचर्य का अर्थ सिर्फ शारीरिक संबंधों से दूर रहना नहीं है यह सिर्फ एक पहलू है जिसे एक सहायक सिस्टम के रूप में अपनाया गया है ब्रह्मचारी बनने का मतलब है कि आप स्वभाव में ही आनंद मग्न है आप शादीशुदा होते हुए भी ब्रह्मचारी हो सकते हैं यह संभव है क्योंकि आपको स्वभावत खुश रहना है अपने पति या पत्नी से खुशी नहीं निचोड़ना है ऐसा ही होना चाहिए पूरी दुनिया को ब्रह्मचारी होना चाहिए हर किसी को स्वभाव से ही आनंद मग्न होना चाहिए अगर दो लोग साथ आए तो उन्हें आनंद बांटना चाहिए ना कि एक दूसरे से आनंद चूसने की कोशिश करनी चाहिए भविष्य के लिए एक निवेश है ब्रह्मचारी एक खास परंपरा क्यों बनाई गई है अगर कोई अपने जीवन के अंतिम काल में ही ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो इसके कई तरीके हैं उस दिन मैं आपके साथ एक मुलाकात तय कर सकता हूँ लेकिन अगर कोई ज्ञान की खोज करना चाहता है न सिर्फ खोज करना बल्कि और लोगों के लिए भी ज्ञान प्राप्ति का एक उपयोगी जरिया बनना चाहता है तो ब्रह्मचर्य महत्वपूर्ण हो जाता है ब्रह्मचारी भविष्य के लिए एक निवेश है ताकि आध्यात्मिकता को उसके शुद्ध रूप में कायम रखा जा सके और पीढ़ी दर पीढ़ी उसे आगे बढ़ाया जा सके लोगों के एक छोटे समर्पित समूह की जरूरत होती है उन्हें एक खास रूप में दीक्षित किया जाता है जो उनकी ऊर्जा को एक बिल्कुल अलग दिशा में मोड़ देता है हर किसी को यह कदम उठाने की जरूरत नहीं है न ही हम हर किसी को इसमें दीक्षित करते हैं क्योंकि यह आवश्यक नहीं है सबको उस तरह की साधना में नहीं डाला जा सकता जिसकी जरूरत होती है आप शादीशुदा होते हुए भी ब्रह्मचारी हो सकते हैं यह संभव है क्योंकि आपको स्वभाव से खुश रहना है अपने पति या पत्नी से खुशी नहीं निचोड़ना है हम सभी ने आम खाए हैं लेकिन हमें से कितनों ने आम के पेड़ लगाए हैं उन्हें बड़ा किया है और फिर आम खाए हैं बहुत से लोगों ने आम खाए क्योंकि किसी और ने आम के पेड़ लगाए हर समाज में हजार लोगों में से कम से कम दस लोगों को आम के पेड़ लगाने होते हैं इसी तरह कुछ लोगों को ब्रह्मचर्य का रास्ता अपनाना होगा समाज में ऐसे लोगों की जरूरत है जो दूसरों के कल्याण के लिए खुद को समर्पित करने को तैयार हों अगर किसी समाज में दूसरों की भलाई और खुशहाली के बारे में सोचने वाला कोई नहीं हो तो वे समाज निश्चित रूप से बर्बाद हो जाएगा आजकल ऐसा ही हो रहा है बहुत कम लोग हैं जो हर किसी के सुख के बारे में सोचते हैं ब्रह्मचारियों की क्या आवश्यकता है दरअसल यह मानव तंत्र एक खास तरह की ऊर्जा प्रणाली है आप इसको बहुत जगह से खुला रखते हुए एक खास तरीके से दुनिया के साथ लेन देन कर सकते हैं या आप एक क्लोज सर्किट सिस्टम बनाकर इसके रास्तों को बंद कर सकते हैं ताकि वे बहुत इंटीग्रेटेड यानी समन्वित हो सके रॉकेट इतना ऊपर जाता है क्योंकि वह सिर्फ एक दिशा में अपनी सारी ऊर्जा लगाता है मान लीजिए उसकी ऊर्जा सभी ओर लगे तो वे कहीं नहीं जाएगा वह बस नष्ट हो जाएगा हम एक ब्रह्मचारी को ऐसा ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह सिर्फ एक और ध्यान लगाए एक ओर से प्रज्वलित होने वाली चीज सीधे ऊपर जाती है और ऐसा तंत्र बनाने का एक खास उद्देश्य होता है बहुत से लोगों ने आम खाए क्योंकि किसी और ने आम के पेड़ लगाए हर समाज में हजार लोगों में से कम से कम दस लोगों को आम के पेड़ लगाने होते हैं इसी तरह कुछ लोगों को ब्रह्मचर्य का रास्ता अपनाना होगा जब आपके पास इस तरह का एक क्लोज सर्किट सिस्टम होता है तो वे एक शक्तिशाली उपकरण होता है इस उपकरण को बहुत से अलग अलग रूपों में इस्तेमाल किया जा सकता है यह ऐसा हथियार है जिससे आप दुनिया पर एक आध्यात्मिक प्रक्रिया की बमबारी कर सकते हैं सन्यासी या भिक्षु तो हर संस्कृति में रहे हैं क्योंकि जहां भी आत्मज्ञान की कोई शुद्ध प्रक्रिया रही है वहाँ लोग हमेशा कुछ लोगों को इस तरह तैयार करना चाहते हैं कि वे पूरी तरह इंटीग्रेटेड सिस्टम यानी एक समन्वित प्रणाली बन जाएं। बाहर से कोई लेन देन ना हो वह बस अपने आप में पूर्ण रहें अगर आप एक खास तरीके से दुनिया को जगाना चाहते हैं कुछ खास प्रक्रियाएं बनाना चाहते हैं और कुछ चीजों की पहुंच रखना चाहते हैं तो ऐसे सिस्टम जरूरी है अगर आप वायुमंडल के आगे उपग्रह भेजना चाहते हैं तो आपको रॉकेट की जरूरत होगी अगर आप सिर्फ वायुमंडल में उड़ना चाहते हैं तो यह काम आप हवाई जहाज में कर सकते हैं यही अंतर है जब आप एक खास सीमा के आगे कुछ करना चाहते हैं तो ब्रह्मचारी आवश्यक हो जाते असीम शक्तियां हैं ब्रह्मचर्य में जानकर दंग रह जाएंगे आप आजकल काम भावना व सेक्स के बढ़ते प्रभाव के कारण समाज में अनेक अपराध होने शुरू हो गए हैं युवाओं की मानसिकता अश्लील साहित्य व इंटरनेट के प्रभाव के कारण खराब होती जा रही है इनके कारण युवाओं में मानसिक व शारीरिक दुर्बलताएं पनपने लगी है ब्रह्मचर्य को जानकर आप इन दुर्गुणों से मुक्त हो सकते हैं हिंदू धर्म में ब्रह्मचर्य का अत्यधिक महत्व है ब्रह्मचर्य को सभी तपों में सर्वोपरि तप कहा गया है ब्रह्मचर्य हमारी आत्मिक शक्ति है छांदोग्योपनिषद में ब्रह्मचर्य के विषय में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य के पालन का फल चारों वेदों के उपदेश के समान है ब्रह्मचर्य अमृत प्रदान करने वाला है अमर होने का अर्थ सिर्फ मृत्यु न होने से ही नहीं है अपितु कर्मों के द्वारा अपने नाम को अमर करने से भी है भीष्म पिता मैं स्वामी दयानक जी हनुमान जी परशुराम और नारद मुनि इन सभी ने ब्रह्मचर्य का पालन कर अमरत्व को प्राप्त किया है ब्रह्मचर्य व बिंदु शक्ति प्राचीन समय में बड्डों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त होने पर कहा जाता था वीरवान बनो वीर रूपी बिंदु के संबंध में पुराणों में कहा गया है मरणन बिंदु पाथेन जीवनन बिंदु धारणम बिंदु का पतन मृत्यु तथा धारण करना ही जीवन है स्वामी रामतीर्थ जी ने वीर के संबंध में कहा है वीर का संचय करने से यह सुषमना नाड़ी द्वारा प्राण बनकर ऊपर चढ़ता हुआ ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है शक्तिवान बनाता है ब्रह्मचर्य वीर से वीर शब्द की उत्पत्ति भी झलकती है वीर के अंदर अद्भुत शक्ति है जब ब्रह्मचर्य के द्वारा वीर रक्षण किया जाता है तब व्यक्ति के अंदर आश्चर्यजनक शक्ति बनती है ऐसा जातक परम वीर होता है और हमेशा विजी रहता है वेदक शास्त्र में ब्रह्मचर्य को परम बल कहा गया है ब्रह्मचर्य अनपरम मुहूर्त ज्योतिष में कहा जाता है कि संभोग के पश्चात युद्ध यात्रा नहीं करनी चाहिए अन्यथा हानि होती है ब्रह्मचर्य से चेहरे का तेज बढ़ता है ब्रह्मचारी जातकों के चेहरे पर हमेशा एक तेज व चमक बनी रहती है ऐसे व्यक्ति अपना एक अलग प्रभाव रखते हैं हजारों की भीड़ में इन्हें अलग से पहचाना जा सकता है गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है इंद्रिय संयम करो ब्रह्मचर्य पालो इससे तुम बलवान रहोगे और चमकोगे ब्रह्मचर्य से मिलती है प्रसिद्धि व कीर्ति ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले दोष मुक्त होते हैं ऐसे लोगों की बुद्धि सदमार्गों में प्रयोग होती है ये धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और अपने परिवार का नाम रोशन करने वाले होते हैं महात्मा बुधवार को ब्रह्मचर्य पालन करने के पश्चात ही बुद्धत्व प्राप्त हो पाया था स्वामी विवेकानंद भीष्म पिता मैं हनुमान जी अपने कुल को शोभायमान करने वाले चमकदार सितारे बने ब्रह्मचर्य की शक्ति को जानते हुए ही भीष्म पिता मह ने कहा था तीनों लोके साम्राज्य का त्याग करना स्वर्ग का अधिकार छोड़ देना इससे भी कोई उत्तम वस्तु हो उसको भी छोड़ देना परंतु ब्रह्मचर्य को भंग न करना शास्त्र कहता है मरणन विन्दु पाते जीवन विन्दु धारणात् अर्थात वीर का पात करना ही मृत्यु और वीर धारण करना ही जीवन है भगवान शंकर कहते हैं न भ्रमर चिवन तपोतम ऊर्ध्वरेता भवेद यस्तु से देव न तो मनुष्य अर्थात ब्रह्मचर्य से बढ़कर और कोई तप नहीं है ऊर्ध्वरेता जिसका वीर मस्तिष्क आदि द्वारा उच्च कार्यो में व्यय होता है पुरुष मनुष्य नहीं प्रत्यक्ष देवता है समुद्र तरणे यद्वत उपाय न प्रकीर्तिता संसार तरणे तद्वत ब्रह्मचर्य प्रकीर्तितम अर्थात जिस प्रकार समुद्र को पार करने का नौका उत्तम उपाय है उसी प्रकार इस संसार से पार होने का उत्कृष्ट साधन ब्रह्मचर्य ही है ये तपश्चत पश्यंत कौमारा ब्रह्मचार्य विद्यावेद व्रत स्नाता दुर्गान्य भी तरंती ते अर्थात जो ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य रूपी तपस्या करते हैं और उत्तम विद्या एवं ज्ञान से अपने को पवित्र बना लेते हैं वे संसार की समस्त दुर्गम कठिनाइयों को पार कर जाते हैं सिद्धे बिंदो महायत्न किन सिद्धि भूत ले यसे प्रसादान महिमा मापे तादृशो भवेत अर्थात महान परिश्रम पूर्वक वीर का साधना करने वाले ब्रह्मचारी के लिए इस पृथ्वी पर भला किस कार्य में सफलता नहीं मिलती ब्रह्मचर्य के प्रताप से मनुष्य मेरे ईश्वर के तुल्य हो जाता है ब्रह्मचर्य परमतप्य है ब्रह्मचर्य ही सबसे श्रेष्ठ तपश्चर्या है एक तस्चतुरो वेदा ब्रह्मचर्य तथा अर्थात एक तरफ चारों वेदों का फल और दूसरी ओर ब्रह्मचर्य का फल दोनों में ब्रह्मचर्य का फल ही विशेष है दुर्धर और उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करना चाहिए और विषयों की आशा का त्याग कर देना चाहिए यह प्राणी स्त्री सुख में रथ होकर मन रूपी हाथी से मदोन्मत हो रहा है इसलिए है भव्यों स्थिर होकर उस ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा करो यह कामदेव चित्तरूपी भूमि में उत्पन्न होता है उससे पीड़ित होकर यह जीव न करने योग्य कार्य को भी कर डालता है वह स्त्रियों के निंदे शरीर का सेवन करता है और मूड होता हुआ अपनी तथा पराई स्त्री में भेद नहीं करता है जो हीन पुरुष ब्रह्मचर्य व्रत का भंग करता है वह नरक में पड़ता है और वहां महान दुखों को भोगता है यह जानकर मन वचन काय से अनुराग रहित होकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो इस व्रत से जीव संसार के तीर को प्राप्त कर लेता है इस ब्रह्मचर्य व्रत के बिना व्रत और तब सब आसार निष्फल हैं। ब्रह्मचर्य व्रत के बिना जितने भी काय क्लेश तप किए जाते हैं वे सब निष्फल हैं ऐसा श्री जिनेन्द्र देव कहते हैं बाहर में स्पर्शन इंद्रियजन्य सुख से अपनी रक्षा करो और अभ्यंतर में परम ब्रह्म स्वरूप का अवलोकन करो इस उपाय से मोक्ष रूपी घर की प्राप्ति होती है इस प्रकार ऋदु कवि बहुत ही विनय के साथ कहते हैं जिनेन्द्र देव द्वारा जिसकी महिमा गाई गई है और मुनिगण जिसे प्रणाम करते हैं उस दश लक्षण धर्म का निरंतर ही पालन करो हे भव्यो विनयुक्त क्षेमन सह के पुत्र होलू के समान तुम अपने मन को इन्हीं दश धर्मों में स्थिर करो हे भव्यो विनयुक्त क्षेमन सह के पुत्र होलू के समान तुम अपने मन को इन्हीं दश धर्मों में स्थिर करो संस्कृत की पंक्तियों में देखें ब्रह्मचर्य धर्म की व्याख्या आत्मव्रम तस्मिन सरती ब्रह्मचर्य भाग वासो वागुरुसंगे पे ब्रह्मचारी सौ उत्तम एक एक मनवान बिना संख्य दून आगण अनुका ऋते बिना विता लोके अवताना फल अंकुत दो अभुक्वापि पे विश्व विश्वमुच्छिष्टवत पुरा यह स्थान अमामि भवत्याहन कौमार ब्रह्मचारिण है तीन अण्ण ब्रह्मवृति श्रेष्ठी यशस्वी है सुदर्शन है सीताया शील महात्म्या अग्निर्वारिस्रो भवत चार स्वब्रह्मणिरमित्वाहन हित्वा सर्वान विकल्प विकल्पकान लब्ध्वा ज्ञानवर्ती लक्ष्मी भविष्य में जगत जगतपति पांच अनुभूतांगना स्मरण कथा श्रवण स्त्री संसक्त नासनादिवर्जनाद ब्रह्मचर्य परिपूर्णम वतिष्ठते स्वतंत्र वृत्ति निवृत्ति अर्थों व गुरुकुल वासु ब्रह्मचर्यम अनुभूत स्त्री का स्मरण उनकी कथाओं का श्रवण और उनसे संसक्त शयन आसन आदि इन सब का त्याग करना ब्रह्मचर्य है अथवा स्वतंत्र वृत्ति का त्याग करने के लिए गुरुओं के पास रहना सुब्रह्मचर्य है आत्मा ही ब्रह्म है उस ब्रह्म स्वरूप आत्मा में चर्या करना सुब्रह्मचर्य है अथवा गुरुवार के संघ में रहना भी ब्रह्मचर्य है इस विद्यचर्या को करने वाला उत्तम ब्रह्मचारी कहलाता है जिस प्रकार से एक एक अंक को रखे बिना असंख्य बिंदु भी रखते जाइए किंतु क्या कुछ संख्या बन सकती है नहीं उसी प्रकार से एक ब्रह्मचर्य के बिना अन्य व्रतों का फल वैसे मिल सकता है अर्थात नहीं मिल सकता अर्थात नहीं मिल सकता पहले बिना भोगे भी जिन्होंने इस विश्व को उच्छिष्ट के सदृश समझकर छोड़ दिया है मैं उन बाल ब्रह्मचारियों को नमस्कार करता हूँ देखो सुदर्शन सेठ के ने ब्रह्मचर्यानुव्र का ही पालन किया था फिर भी वे आज तक यशस्वी हैं। सीता केशील के महात्म्य से अग्नि बीजल का सरोवर हो गई थी मैं भी सर्व विकल्पों को छोड़कर अपने ब्रह्म स्वरूप आत्मा में रमण करके ज्ञानवती लक्ष्मी को प्राप्त करके पुनः निश्चित हो तीन लोक का स्वामी हो जाऊंगा एक से पांच ऐसी भावना सतत करनी चाहिए विद्या और मंत्र भी ब्रह्मचर्य से ही सिद्ध होते हैं किसी भी विधि विधान व अनुष्ठान में ब्रह्मचर्य के बिना सिद्धि नहीं मिल सकती जो ब्रह्मचर्य से च्युत हो जाते हैं उनका नाम लेना भी पाप समझा जाता है क्योंकि वे है ब्रह्मघाती है